जिस दिन मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें ईमान वालों से कहेंगे हमारा इंतज़ार तो करो कि हम भी तुम्हारे नूर से रोशनी हासिल करें कहा जाएगा अपने पीछे लौट जाओ फिर कुछ नूर तलाश करो चुनाचे उनके दरमियान दीवार हायल कर दी जाएगी जिसमें एक दरवाज़ा होगा उसके अंदरूनी हिस्से में रहमत होगी और उसके बैरूनी हिस्से में उसकी तरफ अजाब होगा